कुछ लोगों ने कहा हमने एक नौजवान को सुना है कि वो इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है उसे इब्राहिम कहते हैं